जब रघुनाथ समर रे सब के भय बीते तब मन से लय आए प्रभु पद परत हरसे लाए

युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सब के भय नष्ट हो गए तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं नेत्र अघाते नहीं हैं इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे खरदूस देखे खरदूसन के राय सुपन खान रावण पेरा बोली बचन भारि देश कोष के सुरति विशा पान सो वश दे न राति सुधिनहि तव सिर पर धन बिनु धर मा हरिः समर पे बनु सत्कर मां विद्या बिनु विवेक उपजाये श्रमफल पढे कियरु संगत जते कुमंत्र राजा मानत ज्ञान पानते खरदूषण का विध्वंस देखकर सुरपणखा ने जाकर रावण को भड़काया वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है विषयों के संग से सन्यासी बुरी सलाह से राजा मान से ज्ञान मदिरापान से लज्जा प्रीतिभिनय प्रीतिप्रणय विनो मदते गुणी नासहि वेगे नीति रिपुरुजपावकपापम् प्रभु अहि छो न करे अस कहि विविध विध विलाप लागे रोदन करण सभा माझ परि व्याकुल प्रकार कहरो जियत दस दशकन्धर मोरि कियस गति हो शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए ऐसा कहकर सुरपणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दसग्रीव तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए सुनत सभासद उठय कुलाई समझाये गहे बाह उठाई कहलंके स कहस निज के तबलासा कानन पाता अवधनिपति निपति दस रथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलन आए समुझे परी मोहे उन कर करने रहित साचर करी हहीं धरणी सुरपणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे उन्होंने सुरपणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया लंकापति रावण ने कहा अपनी बात तो बता किसने तेरे नाक कान काट लिए वह बोली अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है वन में शिकार खेलने आए हैं मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे जिन्ह कर भुज बल पाए दसानन अभय भय बिच रत मुनिकान देखत बालक काल समायना परम धीर धन विगुणनाम् अतुलित बलप्र तपदो भ्राता खलबधरत सुर मुनि सुखदाता रामयसनामा तिनके सङ्ग नारी एक श्याम जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दसमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं वे शोभा के धाम हैं राम ऐसा उनका नाम है उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है रूप राशि नारी सवारी रति सत कोटि बलिहारी तासु अनजका तासु तासु अनुजका ते श्रुतिनासा सुनितव भगिनी करहि परिहासा दूसर सुने लगे पुकारा छल महु सकल कटक खरदूषण त्रिस राकर घाता सुन दस शीस जरे सब गाता विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि सौ करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले मैं तेरी बहन हूँ यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे सूपन खहि समुझाय करे बल बोल से बहुभाति गयो भवन यति सोच बस नींद पर नहीं उसने सुरपणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया उसे रात भर नींद नहीं पड़ी